जय जनम गो कह घर दिया जोड़े रे मामा रे जय जो माला महिला में कर बैठे जय ગાયે બસકો કો છે તે દેવા ગામ્યા જય જય મારો ખલવાળો ગણ માજો ચોર હાય हरे माता मारे दा कर कर पुरावा मैं करो में तो बावड़ो काकड़ पयागो नीचा समूचो में तो झाके वाकू दिखी चीर अंधेरी रहा है मेदा ने साथी में गिरे बोले भाई मेरी माँ को घर से शाम खा गई और के मर गई देख काका जी का महल में तो मोश नहीं हो रही है मेरे तो अंधेरी जड़ादंत हो रही है खेतो मारी माता काल पड़ा प्रपत होगी खागो कालो नाग और उनके गिरती बड़े भाई मेरा महल में कर बैठी रहने नहीं रहा है साथियों जातम बिछा दो दारू पियो मतवाड़ा रहो मौज करो मेरी माँ कने जा रही हूँ मैं पूछूंगा कहीं हाल है कहीं हाल नहीं देखा साचा जी दादी में काकड़ पे बिछ गई बस दारू पी हो रही थी मतवाड़ प्याला भरा था फूल श्राप का तो आखिर में डोरा पड़ गया था ला तो मैं तो खोल घोड़ो और कहना माता का भैर को चल दियो भाई मजलिया मजलिया में दो जा रही हो मजलिया पढ़ तो जाए मजली पूछ के चाल भाई आप पहुंचो जो माता का महलन में जाए सब हाथ जोर से झाके देखे पर ने चाकर दिखे ने माँ दिखे मेदा ने खिरे चाकर भी कौन माँ भी कौन गया ही खाए ये भाई जुलम हो गया तो मेदा ने उसे उल्लू टोड़ो मारे अरे माँ मारी जन्म तड़े क्यों ने मरी क्यों खायो मैं तो कालो नाग और इनके घर दिया बड़े रे माता मेरा महलन में कर बैठी थे रहने नहीं रहा माँ ने केवल वाह तो खोजो बेटो तो पड़ी पड़ी माने हे जड़ा दंत में सुई खेरी है अग बेटा मैं जाने की तो को सूरमा अट तू निकलायो जंगल को श्यार श्यार बट काई बस को को छे तेली गांगलो मारो खंगवालो गहने मांगो सो आज बेटा तो जीवता जीवता मेरो खंगवालो गहने मांग लियो बस तू मध्य को तुम जाने लुगाई कर राखो जाने काई कर राखो सुन मेदा कर जाने दारू बाहर खागी जक बोले टेरा बोले बेटी चोर काका बहुत बुरी करी बोले भाई टेलीकॉम को अरे तेरी मेरी माँ के खंगोड़ गहने मांग लिया आज मोदी तो जीवता है माता दातर कुड़ कूड़ा करू जुमू छिलके तार तड़के दिन निगा बल पहला री माँ को तेली को खंगवाड़ा हूँ मैं फहरा कोई चिंता मत करे बोले तू तो बोले भाई बेटा तो जब ही तरने तो खाऊंगी जब ही पानी पीऊंगी तेरा महल में रोशनी देख लेंगे तेली गांगे लगा हथौड़ खंगवाड़ देख लेंगे जब तो रात को निर्देश होकर मास होगी तो दिन प्रभात की ओर मानी गिरे बेटा पो फटी पकना पड़ा उगा सूर्य भान उठे ने महाराज लाल जी तेली को खंगवाड़ाओ ने फहराए सुमे तो उठे झाँक ले घोड़ो और मैं तो अपने तेली गांग लिया चलती चल दियो बस मजलिया मजलिया जा रही हो मजलिया पर तो जाए मजल कूच के चाल वे फोचो तो गांगा तेली के जाए तो गांगले तेली झा कर बोले भाई मरो आ तो गोपन बोले भाई कहीं और नहीं कर दे बोले यार तेली गांगले कम पा मान मारो तो वहाँ खीरे बोले आप आपको राजी राजी का तेल घालते थे क्यों लड़ाई करी सो तो बोले था पर राजी राजी मांगा अरे काका जी आज दियारा धंधे वाला तवार का धनमावत की रहा थे एक मरकली गाल दे रहे काका मेरा महलन में जो गेंदे दी रात तो महाराज नरो कड़ो झांकते ली रे झाक बांधी आला तेरी माता के कलखम वालो हासिल और एवड़े पड़ी है हमेल से तो को नया तेल के होते तो कांगा तेल के कहने मेल तेल तेल तेल करिए जा लिया है का मेल कांगवाड़ा दर्जा ले जा सब मैदा कहते दाने दारू का खाए बोले तो ही सुकोन सीखो तो चाकर से हम जरूर भी खाइए अच्छे बोले भाई काका जी काका जी मैं आगो तो तेरे तेल को और पाछे मोको मत ना दीजो दोस्त इसो धरे जो जी आलो बाकड़ो रे काका सड़ा का तू बात नाल नाल दो कर दूंगे देख मेरा बाप कर जाए फराज पहुंचा दे सड़ा का दो टू कर सारा माल को ले जाऊंगा बोले तो तेली का बोले जा कर बोले जा जा पीछे कोई बदल बदल घाल दूंगा जा अरे बोले तेरी स्टेज करो फिर भी कतली गाली ने तने अच्छे बोले भाई शो महाराज मेहता के तो रोष नहीं माव अरे मेहता जी आज दियाला दंडीवाला तवार का धनमावस की रात तेल का हलवा को शांत कौन से मैं देख रही थी लक्ष्मी माता जी की जोत जब पीछे ले जाइए मैं जोत पर बैठे जो पीछे ले जाइयो सो गांगले तेरी ने खोज खोज माया का दोनों बगलों को तो ढेर कर रहा क्या और बीच में जोत जोड़ रहा लक्ष्मी माता की लक्ष्मी माता की ते बोले भाई काका जी की भी कौन छोड़ी यार बोले बोलो काहे की बोले यार अब देख ले बोले कहीं तो तो इनकी की पक्का फैला पक्का की कुछ रहे करी जो गाड़ा में से भाई घाने भी घाने दो फर गयो खाउन पाई कुछ और सवा मन पक्का की के कुछ हाथ पड़ गई साबड़ी सब तेली तो पटकी नीचे ऊपर से पटकी तेल तो दोनों को पट कर मिला कुंदार बोले या फिर सावामण पक्का को मोड़ दिया दोनों का नाम मेरी माँ का दौड़ हो बोले या ले सो दोनों को नरवे मूंद और दादी की बोले अब अपना साथी निकल निकाला और अब दादी का को तेल लूटा मजलिया मजलिया मैं तो जा रही हो मजलिया पढ़ तो जाए मजल पूछ के चाल भैया पहुंचो तो साथी निकलने जाए हाँ बोले भाई साथी हो, जाओ कमर कटारा ढीला से गाटा करो चाला काका जी की माछ राजी राजी जेल को दियो का पड़का सुहा को तेल देखो बोले भाई जब छोरे जनानी प्यारी जाओ जो तो बोले भाई आगे ले और मैं तो प्यार से तो बोले भाई आ जाओ मेरे लाग बोले चल हम तेरे बीजे रोटी खावा चल तो बोले आ जाओ माल थ्यार और फते मेरी मैं कोई का धन की भी आज कौन कौन बेटे का दौरा कर सोहार साथी चलिया सो गांग तेली के फौजा फौता यहाँ बोले या माल जाए दिक्कत गुआडिया दिया गया भरोसा नहीं को फैला दो तो सज्जोत बताओ निमारी राज बर्फा गया में छकड़ा का छकड़ा सब माया पूंजी को सब को भर ली मैदान की देखो बोले भाई माल थे और फटे मेरी मेरो तेल लूट लेगा जो मेरो है अब सबर करो बोले भाई यार शाह तेली गांगला का कोठान में पड़ा तेल का बतकान का बतका बतकान का बतका तमाम तेल के लिए लूट लियो लूट और बोले भाई आज चलो आज दिवाली मनाओ मेरा महल में चलो जब मैदान के लिए खांसी तो बात ले आऊंगा रुई ले आऊंगा खांसी डीप से ले आऊंगा या जौरी बाजार है सैया में जो भी हाथ पड़ो से चलता चलता या कुछ चलो बोले याकूब लूट कर ले चलो कर ले चलो सो साथी पड़िया रूपी रुई कुपास काकड़ा हाथ पड़े जो सब आपको भी ले ले जा और अपना जारुंडा में पहुंच लिया है गांव जारुंड हो इनको आज वहां हाँ, साथियों से हाँ बोले भाई साथी मेरा बाप का महल बीच कच्ची रोशनी में सो रुई ने कहा तो डूजा दे दिया पंडालान में और छत्तीस रुपये काकरान को बखेर दिया और बतकान का बतका तेल का पटक दिया हाँ बोले भाई बताओ दिया सड़ाई से दिया सड़ाई बताई बहन से सुन को से टापरों पकड़ी हो जब मैं तो उनकी माँ के गयो हरी बोले माँ बोले हाँ बेटा हरी बोले देखा बाप का महलमा भी झाँक मेरा महलमा भी झाँक सोमा पुण्य झांकी झांकता है जो जगमगाट हो रही हो जारूना में अरे बोलो बेटा माँ भी तो एक मर के लिए तेल ही कौन दे तो भी ते, तेल का दे दियो बोले तो नहीं खंगवाड़ा की दीदी मेरी खंगवाड़ा फहराया तेल लिया आयो अरे बोले बेटा ये भी तू अगुणी कर आए बोले क्यों अरे बोले तेरा बाप राव ना तू को तेल ही खेवा तेरे जुलम कर दीवा को तो वह अवगुण कर तू भाई बेटा को खंगवाड़ा तो खो लिया मेरी तो को दया भी भारी बेगी भी आवे और मैं कुछ शाल भी बारहवें को बतावे बोले रात रात रह बात मेरी अब तो मैं कौन जाऊँ पर तेरे खो करूँ जाऊँगा तो सिंह को तुम श्यार बना दे और श्यार को तो गीदड़ घेर जब भी नुको दया ही आ गई तो रात को टेबल को सोकर सकाल फिर मारे जगा रहे बोले बेटा हाँ बोले माँ बेटा उठवा को तेली को खवाड़ा फैले बोले भी जाऊँ सो ले घोड़ी आज मैं तो जी चलती हो बाद मजलिया मजलिया जा रही हो मजलिया परसों जाए मजली पूछ के चाल बया फौचो तेली पे जाए सो धरिया सो तेली कलोट लेते तो गया छिल गए कलोट लेते तो गया छिल गए से दो दांगल खाल छिड़की बिगड़ गाय ना कलौट लेता लेता जब वहां से बोले काका जी राम राम दुखी सुखी तो तेल नीचे से पड़ी पड़ी बोली है नाव मोती दुखी तो कहीं का सुखी छा तेरी ने ऊपर से तो, तो कहीं जो रहा है तारी मेरी तो इसकी बगल छिलकी मेरी या बगल छिलकी सवा मण पक्को या बोझ मेरा गला में ढाई तीन मण की तू तरी मेरा माल तो है तो, तो कहीं जो रहा है तो बोला मेरा बाप जो तो मैं कहते चलो खगवाड़ा अब भी मैं खोल दू खोल दू तो रे बोले ना भाई मारो का ले बोले तो कच्छे भी नायक मैं तो कच्छे भी नायक हूँ तो बोले नायक कहते ला तो पकड़ दो कुछ का मुंडा लेट दी निकल सूदी आज मैदान की बोले भाई भागे सो लाजे कोई चार तो भाई एक बाप पांच और और साथी जा अपना साथ में यहाँ दबो हो गया भगो अपना झारूडा को अब मेजो तो जी झारूडा को चल दिए है आज वहां खोलता ही बर लगी है तो तेली गाग तो 라ઉનાથ કો કને ખબર કરવા જારી હે અર કેસે દેગા તેલી ગાગ લેકે અર 라ઉનાથ તો દો દો જવાબ ઓરિયા હે અર કેસે દેગા એસે આગે મેતોજી બઢેર કેસે ભગવાન નાથ સરનાથ ધામ હે भाई मजलिया मजलिया जा रही हो मजलिया पड़तो जाए मजल पूछ के चाल भाई आप पहुँचो उधर गंगा तेजी के जाए तो बताओ ना तो कहने जाए बोले दादाजी जय सलाम बोले सलाम भाई आज तेजी कैसे आयो बोले महाराज आयो कहीं सवावन पक्को तो को झूठ झूठ पीछे काम करूं मेरो तेरो बेटो आगो मे दो सोवन तेल मांगे तेल तो घाली को नहीं अरे मारी हुआ खड़े खोद खोदवा कुछ सी सो मोह को पटको नीचे और तेल को पटकी ऊपर सो यह हाल कर दो मैं तो तेरा काम माज आज काज रू जा रही हूँ राहु नाथ ने घिरे जुलम होगा जब बोले देख भाई तेली चाहे काल जा तो तू अब हाल ही चले जा वो तो मेरा बस को आज काल तेरी मर्जी माओ जा चाहे तू है तेली का अगले घिरे यही के पीछे तो तू लड़ रही हो और यही ने तो जवाब दे दियो तो रहे वो भी दरकार ही देते रहो चलिए गांव में चल गांव में चुप तो केली गांग जो किसा बामन को बुलावे है और किसा भेद सु निकल भीमा की ध्यान को जावे मेदा का भेड़े की गुण आज राव ना चुका जमाई के नहीं और कैसे जगह क्या कि माँ बंद कर रही है और कैसे जगह की सभा सुने कैसे भगवान नाथ सरनाथ गाड़ी है हम मेदा की बहन के जा सकावट करोगे करना वचन गरसो अंजल मारो उछिटो रे बामण कोठी लाया हाथ बामन बाते वेद को भाई तेली गांग गांगला तू भर दोपहरी में जा जो उठ ये तो वो चनक तरकार दोपहरी में जाजो जाए तो सकाळे मत जाए दोपहरी में जो 12 बजे तो सही 12 बजे जाजो बोले भाई बहुत बढ़िया अच्छे तेली गांग गांगलो घर आगो तेली गांग गांगलो अपनो माल सामान जो जो गड़कू तुरंत जो अपना गाडान में जोड़वा लग गए वहां मेहता की माँ के लिए ठीक पड़ गयो कहा तेरा मेहता के ऊपर तेली गांग गांगलो रूस आर कायनो रावणाचुकी माच पुजारी वाने अशोक कर रहे बहुत बुरी करी तेली का जान तो भाई या कायन काया बोल कर जब फिर ये थे मी की मेदा की माने ने खाइए तेली का गया सो अरे बरजू छुरे गांगा जेठ जी मान गया कि जेठ बालक में तो डावड़ रे जेठ जी जे बतू काई करे जे रोज इसे तेरो बाल की जीव बाल ये पकाई रोज करे हम क्यों जावे तू कहाँ जा रही है तू बोले तेरे लेके खाई जाओ तो कहीं मतलब बोले नहीं जेठ जी नहीं मत जाओ तो क्या बच्चों इसके ऊपर रोश मत करो गुस्सों में तो नाराज मत हो तो फिर तेली गांग जाने खाइए अक मतलब सौगुन मीनी मेरे तू आडी भरे और मैंने जोड़ा थी गाडा या बास करेगो तेली गांग जो तेरा मैदा बीच आगा को पाऊंगा ठाडा तेरा से तगड़ा पाऊंगा उनके जा रहा हूँ वह जान गई बेटी के जगह उठे खाई नहीं जाए वहाँ बैर बिस्वार वहाँ बैर बसाओगे जो तो फेर किए अकबर जू कांगा जेठ जी और मान किया कि जेठ या माच नगर बना जेठ जी थारो कौन भरे को पेट पेट मना भरे वो मान जा खाई तो मज्जा तो हुआ या गांव में तेरो पेट नहीं भरेगा तू खाऊं भी मज्जा बोलो ना जाऊं तो तेली गांव के लोग जा रही है और कहीं एक कहीं ना दयाला की भीड़ डावन में पहुंचे और कहीं देखा ससुरा जवाई इनके दोनों के बात हो रही है और कहीं सभा पर सुनो और कैसे भगवान नाथ और तेरे मजा दे मजा रया दारया થોજો હું જાલાળા બળવલ દીવાય કે જાવણે મારા और सुथराजी धैर्य के भी गाने दो अरे रूस रे तेली आ गयो रे भी वड़ा अरे दे जो थारी गावन में क्यों डेली मजलिया मजलिया जा रही हो मजलिया पढ़ते हो जाए मजल कूच के चाल भाई आप हो जो बीवा मीणा की जावण में जाए जावण गोत को हो मीणो जावण एगो जवाई हो राहु नाथ को मेदा को बहने बन जाजम जाकी भीमा जी जावण तेरी जाजम तेरी बिछरी दारू की होरी मतवार रूस तेरी आगो वे जावणा मीणा तेरी जावण में लेके उन्हें मोगो तू डाय तू सब जामीणा ने खीरे बोले भाई तेली आया तेने भली करे आया तेरो आदर लू गड़ गड़ गुरु उधर तार दरे तेली गांगला मेरी ये ध्यावण के माय रेल मौज करे दा बोले देख जग रू तेरा गई ध्यावण में मैं को रावनाथ ले बा जाए मेदो जी ले बा जाए तो उल तो मत दीजिए जब तक तो तेरे ध्यान में डटू नहीं डटू मुँह आगा आपको क्या पता नहीं मैं को निकल पा आगा को अरे बोलो ना तू रहर मौज करे तो तेली का अंग्रेजों को छह महीना हो गया मेधा का भैने बने ने राव नाथ होगा जवाई करने तो ये मिले पे मिले नेते और खेते हो ये तो ब्याहता का राव नाथ होगा अरे यार मैं तो घर कराई भैर बहनी को तो ये चारू पाचू बात बेटो बतलाया अरे बोले बेटा हो बोले हाँ काका जी अरे बोले कोई खेत खाना ही मीना गए कोई आपस ठाडा जबरा गए अपना तेली को तो ठीक पाड़ो खा गए और खा नहीं गए सवा मन पक्को तेल दीजिए को काल पड़ गयो और वो को छह महीना होगा गया और कुछ छह महीना को कर्ज तो दिया जो वो वापस लिया ठीक पाड़ो जाओ तो चारू का चारू नट गया बोले काका जी मैं तो आज जावा काल जाओ लगवा दे बेटी का लौड़ा का माथे गोली अरे बोले बेटी का लौड़ा नहीं भाई हमारी घोड़ी खोल दो हम जाएगा हमारा तेरी गुलेबा तो वह भी वहां बैठे बैठे वहां पर ली रहा जवाई की अब ज्यादा को भीगड़ो डांटे नहीं हो और कोई दुनिया में डांट वालों में नो कोई सो सीधो आप तो ध्यान को चल तो रावना तू छठ घोड़ी पे और सीधो ध्यान को चल दियो जवाई का गांव पर मजलिया मजलिया जारी हो मजलिया तो जाए मजल पूछ के चाल में आप पहुंचो तो ध्यान में जाए सो ध्यावना मीनान के दारू की महफल हो रही तू पी हो रही गोडी सू गोडी कर रही आज राम तो जवाई ने ससुराल राम राम जाकर बोले राम राम सा बोले राम राम आओ बोले साहब आओ साहब आओ साहब रावनाथ ने सोची भाई यह है बावड़ो पानी या सो आप या को पी लेंगा सो आप खांगा जब क्या नहीं कहोगे हमारे ससुर तो पागल हो गए हो बावड़ हो गए हो नहीं फैला सो आप जो काम आए जो कि खाई गया सब पीवाएगी दारू तब आज हाथ जोड़ जवानी सुनो बोलो बेटा तू मेरो बेटो है आज तेली को छह महीना होगा आया बेटा है को छह महीना को कर्ज जितना करे इतना तो तुम उसे ले ले और या वापस दे दे मेरे सवा मन तेल को रोज इना के पाल पड़ गए तो जाला को भिंगड़ो दारू में फुल्ले हुए पड़े नशा में सब जाला का भिंगड़ा नहीं खाइए चाकर का ले जो लीली घोड़ी को ताजनू मेरी घोड़ी को ताज न दिया अभी खंदाऊ जी बोले कहीं पाए दिया एक पांच सात फटकार दो चले जाओ यहाँ से सुसरा ससुरासु ले जो चाकर का दीदी घोड़ी को ताज लो या ले बाग यहाँ तो तेली को मैं वापस दे सकूँ कोई चले जा तेरी माँच के लिया रहा हूँ नाथ होगा तो खट बोली बैठ के भीतर अरे बोलो जवाई तेने मुझसे कहीं अरे बोलो चले जा तू जा नहीं पाँच सात फड़ा मारूंगा तेरा मुंड में सो रावनाथ जी की तो प्राण वापस हो गया बहुत बुरी करी जब फिर रावनाथ ने कही है अब जी बेटा तू मेरी चोरी छो और जो की आवत है लाज नहीं इसे धरे थे दादाजी आलो बाकड़ा को तू माथा नाल नड़ा दो बोलते पर मेरी चोरी छो मैंने तेरा पैर पूछ लिया मेरे जवाई होगो मेहमान नहीं बोले ये किसी दूसरा का तू माथा नाल नड़ा दो कर दू अच्छे बड़े बोले बेटा कोई बात नहीं सो रावना तू वापसी अपने चलती है तो रावनाथ को बोली के मारिया गाना प्राण मोग शोभा गया जब घोड़ी सुखाइए रावनाथ ने अरे लीली घोड़ी तो को दूध कटोरा पात और घी बुद्ध तो थाल आज मेरी बेटी के बाण रे घोड़ी तेरे मेरा यहाँ फैलाया हाड आज मेरा प्राण यहाँ मोकस करेगी बेटी के बाण तो फैला का जमाना में फेंक जानवर ढूंढे बोला जब घोड़ी ने या कियो अगर मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जा क्योंकि तेरा ही काम मैं ले चाल से दाग दूंगी पर मेरी पीठ पे चढ़ता पीठ भी ना चढ़े तो मेरा बच बचकी दिखाए तो राव ना तू जया तया जया तया पीठ के ऊपर छट गए तो छट गए और अपना माछ को मुंडो कर लिए तो जो अपनो गांव माछ नजीक को आवे जो रावनाथ की घोड़ी का आना के जो नार दत्तिया है वही प्राण मोह को शोभा लग गया वहीं से तो ये मिले पे मिले नेते और घेतो कमरा में डोज लिया बड़ा सबड़ा गोली लग गई ना सो ने झांके और झांकता है बोले बस जीजा जी के काका जी के प्यालान की मनवार गई सो काका जी का नशा का मारा घोड़ी का हाना के नार दच गई नशो ज्यादा हो गयो हम्म। सो इतना में तो रावनाथ जी ठहरे नहीं पहुंच लिया है बोले भाई बेटा हो मट्टी पकड़ रही है खे झेलो मेरी भाई बोले काका जी खे खाई बोलता खे झेलो मेरी सुबह चारू का चारू फौज ले चार जेड़ा चार खेला बटकी ले काका जी ये है अरे बोले बेटी का लड़ाओ के या कोई तो के गया हुए अब तेरी माता ऊपर मोको महल में ले जाए और वहां नुआवे और उनका सपड़ावा से नीचे नहाओ या हुए खे न बोले मैं तो आज नहा का ना राहुनाथ ने सोच रहे बोले हाओ का हाउ बैकुट को चार बेटा था तो चारू नटका नटका जब राहुनाथ ने कही खोटो पैसो और खोटो बेटो और ही बनवा डो आवे देखा एक अपनो मेदो है देखा हुआ के लिए खबर तो करा देखा वो आवे कोई ना देखा दोनों माँ बेटा करी को शो देखा कहे संजाला करने संजाला को मेदा करने खंडावे और कहे देखा दोनों माँ बेटो खेल हेलवा को आवे और कहे देखा रावनाथ का प्राण मोकश हो रिया है अज कृपा भाई राम के फूलन तुले आया भाई जो कर भगत नाटक राम चगे आयाम तन पति राम र yeah.

कर भगत पिता राम नय जाया राम नय पिता भगवान नय जाया भगत पिता पिता

got a bad guy, yeah. उचक चाल बदन शिरो निरत भारी के झेलो को आए भाई तू देखा मेरा मेजा को तो बोला देखा मैं झेले कि नहीं झेले हाँ ये तो चार मिनट गया संडाड़ो सांड पलान तो जारूं डे काय बस खबर करी जी हूँ मेजा डाकुरे थारो बाप का प्रावत होगो की खेत झेले तू दारू पी रे रात तेरो बाप खत्म हो लिए सो मेजा का नसोदान के कोई उतर गए तो मेजा की माँ ने कहे वह संडाड़ा सु अरे बालक में तो डावड़ और खेत झेलर जाने ना है भाई ये मिले पे खेत खेप तो तो न्यारो जारो बसायो भाई या तो कौन जाने बोले खेत तो इतनी कहता है के तो आग बढ़ गई जक अरे माता ज्यादा तो बाप तो को मीठो लागो अक बीज बेल को फेरियो तेने घाघरो और की टेड़ ज्यादा मीठो लागो शीरो मीणो माच करी माता तू आगे की धर्मा था घर बैठा ही जे और आज तो मेरे बाप बुरो लगवा लगते हो जानने तो घर बैठे जा गई थी सुनी ही विषय माँ ने सोची कि अब आप बेटा को ठीक पड़ गो बेटा हाथ जोड़ू तू तो, तो को मैं भीम तीर मारी कर जोड़िया की रहा है ये दो जठेड़ा में बेटा मेरी क्यों उघाड़े यार कोई तो को ब्याह होता तो जाने को कोई घर कराई जाने को चल बड़े तेरे दार दार चल तो बोले आ जा सो तो दोनों माँ बेटा चल जल्दी आ भाई मजलिया मजलिया जा रिया मजलिया पड़ता है जाए मजल कूच के चाल भैया पहुंचा राव नाथ जी माच नगर में जा जाए तो वहां लंबा साथ ले रही रामनाथ जी अब मरूं अब निकले अब निकले इतना तो ठहरे नहीं काका जी राम राम अरे बोले भाई बेटा राम राम तो बोले काका जी आज कैसे याद करियो बोले बेटा मेरी मट्टी खराब हो रही है मेरी खेत मेरी मट्टी खराब हो रही है तो काका जी मैं जानू नहीं मेरे को बताओ